नमस्कार मित्रों आज तारीख है 5 जनवरी 2014 रविवार ये मेरा वीडियो है आ, मतलब अमेरिका के इलीट मैन अमेरिका के जो धनिक है और आम आदमी पार्टी के रिलेशन के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियो है एक वीडियो जिसमें 14000 तक काउंट चला गया और कुछ कंफ्यूजन आ रहा है इस वजह से <clears throat> कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के एजेंट है और वो नहीं है वो कंफ्यूजन मुझे क्लियर करना है वो सीधा मल्टीनेशनल कंपनी को रिपोर्ट करते हैं अमेरिका के धनिकों को रॉकफेलर फोर्ड फाउंडेशन वगैरह और वो मैंने मतलब कभी नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की एजेंट है मैंने शुरुआत से कहा है कि आम आदमी पार्टी सीधा मल्टीनेशनल कंपनियों की एजेंट है मतलब फोर्ड फाउंडेशन रॉकफेलर रॉस्टाइल वगैरह की और फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा कि भाई आप क्यों आम आदमी पार्टी को कांग्रेस को एजेंट बता रहे हो और वो बैकफायर हो सकता है कि नाटक करने के लिए कल अरविंद भाई शीला दीक्षित को भी जेल में बंद कर सकते हैं रॉबर्ट वद्रा को भी जेल में बंद कर सकते हैं सोनिया गांधी को भी उठा के जेल में डाल सकते हैं हफ्ते दो हफ्ते के लिए और उससे फिर पूरी बाजी उल्टी हो जाएगी क्योंकि वो पब्लिक में क्लियर हो जाएगा कि ये कांग्रेस के एजेंट नहीं है तो जेल में क्यों डाला ऐसे इंक्वायरी क्यों कराई तो मुझे कहा कि भाई आ, जो अरविंद भाई है वो हम कहे कि विदेशों के एजेंट है तो लोग हंसते हैं कि कॉन्स्पिरसी थियरी हो गई क्या सबूत है और इसके वजह इसलिए बदले हम ये सेमी ट्रूथ आधा सच्चाई बोलते हैं कि वो कांग्रेस के एजेंट है और मैंने कहा कि आधी सच्चाई भारी पड़ सकती है यदि इसका वन परसेंट भी यदि फॉल्सिफिकेशन हो गया जैसे मान लो शीला दीक्षित के खिलाफ इंक्वायरी डाली दिखावा करने के लिए इंक्वायरी डाल दी या सोनिया गांधी को जेल में डाल दिया या रॉबर्ट वद्रा को जेल में डाल दिया <clears throat> भले लोग हंसे कॉन्स्पिरसी की बात सुन के जैसे मैं जब शुरुआत में बोलता था कि दुरात्मा गांधी अंग्रेजों के एजेंट है तो बहुत लोग हंसते थे फिर बाद में मैंने जैसे जैसे उनको इन्फॉर्मेशन दी कि देखो इस तरह से उन्होंने भगत सिंह की पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज मांग तोड़ने के लिए दांडी सत्याग्रह शुरू किया कि भाई मोहन भाई को पैसा कौन देते थे आश्रम चलाने के लिए ये टाटा बिरला बजाज सारा भाई और दालमिया ये पांच लोग मेन थे और भी थे और वो अंग्रेजों के कहने पे वाइस रॉय के कहने पे करते थे तो मुश्किल सच बोलना बेहतर है सिवाय कि एक आसान सेमी ट्रूथ <clears throat> तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पहले कि जो स्ट्रक्चर कैसा है कि top of the food chain America के 2000 2500 धनिक लोग हैं अमेरिकन इलिटमैन मैन जिसमें सबसे ज्यादा अमेरिकन यूरोपियन सब मिला के जिसमें सबसे ज्यादा नाम आएगा रॉकोफेलर और रॉसचाइल्ड का रॉकोफेलर फैमिली में कुछ 20-25 लोग हैं रॉसचाइल्ड फैमिली में कुछ 50 जितने लोग हैं 40-50 लोग हैं पर ये 60 लोग पूरी दुनिया कंट्रोल करते हैं ऐसी बात नहीं है पूरी दुनिया इतनी आसान नहीं है कि 60 लोगों के कंट्रोल में हो जाए 60 लोग यानी 120 हाथ हुए तो दुनिया इतनी आसान नहीं है कि 120 हाथ उसको कंट्रोल कर सके दो तीन हजार धनी के और ऐसा नहीं है कि वो पूरी दुनिया कंट्रोल करते हैं पर दुनिया में वो ग्रुप सबसे पावरफुल है मतलब इंडिया के जो अमीर है वो इतने उनमें इतनी एकता नहीं है उनमें इतना सहयोग नहीं है ये जो 2000 लोगों की मंडली है उनमें ज्यादा कोहेसिव है ज्यादा सहयोग है इसलिए सारे ग्रुप जितने भी अलग अलग ग्रुप है पूरे कंट्री पूरी दुनिया में उसमें ये ग्रुप सबसे ज्यादा पावरफुल है और ये ग्रुप सबसे ज्यादा पावरफुल है इसलिए ये डोमिनेट करता है पर ये डोमिनेट करते कैसे हैं तो एक तो उनके पास बहुत सारी कंपनियां हैं जिसे मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं पर जब एमएनसी कहा जाए तो एक बात ध्यान रखना सारी एमएनसी खराब नहीं है पहले तो खराब क्या सर्च किया उसके बारे में मैं कहूंगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना कुछ खराब है, ना कुछ अच्छा है। जैसे यदि मैथमेटिक्स में सारे एक्सियम्स निकाल दो, तो कोई एक भी थियरम नहीं बचेगा। सारे आंकड़े निकाल दो, तो मैथमेटिक्स भी नहीं बचेगा। जो एरेथमेटिक है, मैं one, two, three, plus, minus सब कुछ मिटा दूं, तो पूरा मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा। इस तरह से गुड बैड कब होता है? जब नैतिकता हो और कानून हो। तो देश के अंदर सोसाइटी के अंदर नैतिकता होती है कंसेप्ट होता है नैतिकता का कानून का कंसेप्ट होता है इसलिए अच्छा बुरा कानूनी गैर कानूनी सजा ये सारे शब्द मीनिंग रखते हैं कुछ अर्थ रखते हैं लेकिन इंटरनेशनल कानून जब से दुनिया शुरू हुई है तब से आज तक उसमें कोई कानून ही नहीं है इंटरनेशनल एरिना में वो एक जंगल है इसलिए वहां पे ना कोई कानून है ना कोई एथिक्स है और कोई कानून नहीं है कोई एथिक्स नहीं है इसलिए कुछ गुड भी नहीं है कुछ बैड भी नहीं है कुछ लीगल भी नहीं है इलीगल भी नहीं है जिसको जो आता है वो करता है पर गुड मैं किस सेंस में कह रहा हूं कि ओवरऑल इनकी जो एक्शन है उससे दुनिया के गरीब से गरीब आदमी को भी फायदा हुआ है जैसे इंटेल है तो उसने यदि प्रोसेसर बेचा है उसने मतलब पैसा कमाया तो साथ में प्रोसेसर भी बेचे है जिसके ऊपर आपका कंप्यूटर चल रहा है मोबाइल चल रहा है आप ये वीडियो देख रहे हैं एप्पल है माइक्रोसॉफ्ट है उसने भी सॉफ्टवेयर बेचे हैं पैसा भी कमाया है लेकिन सॉफ्टवेयर भी बेचे हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फिर एक दूसरा चैप्टर है कि बिलगेट्स की कुछ दवाइयां हैं जीएम जीनेटिकली मॉडिफाइड फूड है पर वो अलग डिवीजन है वो माइक्रोसॉफ्ट नहीं है तो इस तरह से बाय एंड लार्ज ये कंपनियां अच्छी और बहुत लंबी लिस्ट है जैसे मैकडोनाल्ड है तो भले उसका खाना अनहेल्दी हो पर वो अंत में वो खाना बेच के पैसा कमाते हैं वो कोई आ, मतलब मारपीटाई करके खून खराबा करके पैसा नहीं कमाते तो इस तरह से बहुत लंबी गुड एमएनसी है बैड भी किस सेंस में कह रहा हूं कि इससे नुकसान जाता है लेकिन देखो हर एक बैड एमसी में एमएनसी में एक बहुत बड़ा गुड डिवीजन है जैसे बोइंग है तो वो हथियार बनाते हैं जिसके द्वारा अमेरिका ने इराक को लूट लिया लेकिन वो बोइंग एयरप्लेन भी बनाती है जिसके द्वारा कॉमर्शियल प्लेन चलते हैं पैसेंजर प्लेन चलते हैं फिर इसी तरह से जनरल इलेक्ट्रिक है तो जनरल इलेक्ट्रिक है तो वो हथियार बनाती है एटम बम की बहुत सारी टेक्नोलॉजी जी e और लॉकिड और ये सारी कंपनियों ने बनाई है पर जनरल इलेक्ट्रिक है वो मेडिकल इक्विपमेंट भी बनाती है इसी तरह से जब पेट्रोल कंपनियां हैं जिसने इराक को लूट लिया लीबिया को लूट लिया लेकिन वो पूरी दुनिया को पेट्रोल भी दे रहे हैं तो जो एमएनसी है उसमें गुड डिविजन भी है बैड एमएनसी है पर बाय एंड लार्ज देखो तो बैंक है तो ये अधिकतर लूटने का काम करती है और मीडिया है तो यूं समझो कि ठीक है थोड़े बहुत समाचार पहुंचा दिए पर 90 परसेंट काम इनका लोगों को गुमराह करने को होता है तो इस तरह से जो अमेरिका के धनिक है उनके अंदर एमएनसी है और मैं आपको कहूंगा कि गुड बैड जैसा कुछ नहीं है ये सिचुएशन है और हमें इससे निपटना है और कैसे निपटे उसके लिए हमें क्या कानून बनाना चाहिए उसमें मेरे बहुत सारे वीडियो है पूरी किताब है Rahul Mehta dot com slash three zero one dot H T M यहां मैं सिर्फ परिस्थिति वर्णन कर रहा हूं अब ये धनिकों के अंडर में अमेरिका की सरकार है अमेरिका की सरकार इनके अंडर कैसे हैं कि इनके पास मीडिया है मीडिया के द्वारा वो सेनेटर वगैरह को ब्लैकमेल करते हैं उनके पास है कानून पास करवाते हैं और इसलिए सरकार अमेरिका की ये धनिकों के अंडर में है अमेरिका के अंडर ये धनिक ज्यादा बदमाशी नहीं करते क्योंकि अमेरिका में ज्यूरी सिस्टम है राइट टू रिकॉल है इसलिए ये धनिक है वो सरकार के सरकार उनके वश में होने के बावजूद भी अमेरिका के नागरिकों को नहीं लूट सकते क्योंकि अमेरिका की अदालतों में ज्यूरी सिस्टम है सीधे नागरिक वोटर लिस्ट में से आते हैं और वो जजमेंट देते हैं अमेरिका के नागरिक पुलिस कमिश्नर को नौकरी से निकाल सकते हैं किसी भी दिन गवर्नर को नौकरी से निकाल देते हैं वो राइट टू रिकॉल है पर अमेरिका की सरकार के द्वारा ये लोग बाहर के लोगों को जरूरत पड़ी तो लूटते हैं तो उसके अमेरिका के दो मेन डिवीजन है जो कि लूटने में मदद करते हैं एक तो अमेरिका की सेना और सीआईए अब फिर ये धनिक लोगों ने एनजीओ वगैरह चलाने के लिए फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन ऐसे बहुत सारे फाउंडेशन बना रखे हैं और मिशनरीज इनके अंडर में आते हैं कैसे क्योंकि मिशनरी इनके दान पे चलते हैं जो प्रोटेस्टेंट चर्च है उसमें जो अमेरिका के धनिक है वही प्रोटेस्टेंट चर्च के मिशनरियों को अपॉइंट करते हैं और कैथोलिक में इस तरह की अपॉइंटमेंट नहीं होती प्रीस्ट है वो प्रीस्ट को अपॉइंट करते हैं जो कार्डिनल होते हैं उनके 150-200 कार्डिनल होते हैं वो पोप <clears throat> को इलेक्ट करते हैं पर उनको पैसा आता है मल्टीनेशनल कंपनियों के दान से इसलिए मिशनरी इनके अंडर में आते हैं अब ये और चौथी एक एंटिटी है सऊदी अरेबिया वो भी भारत के पॉलिटिक्स को प्रभाव करती है तो अब भारत के अंदर कौन-कौन सी संस्थाएं हैं एक तो मल्टीनेशनल कंपनियां जिसमें मैंने बताया कि देखो सारी एमएनसी बुरी नहीं है ये मैंने अपने चैप्टर 20 में आज बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि मल्टीनेशनल कंपनी को गाली देने से पहले उनकी अच्छाइयाँ स्टडी करो कि वो इतनी प्रोडक्टिव क्यों है क्योंकि उनके कंट्री में ज्यूरी सिस्टम है राइट टू रिकॉल उसकी वजह से वहाँ पे अदालतें फटाफट चलती है जो केस का जजमेंट यहाँ तीन चार पांच साल में आता है वहाँ पे दो ढाई महीने में आता है वहाँ पे अफसर है वो रिश्वत मांगने की हिम्मत नहीं करते इसलिए वहाँ पे इंजीनियरिंग अच्छी है टेक्नोलॉजी अच्छी है तो प्रोडक्टिवनेस है उनके पास उसके बाद पेड मीडिया जैसे स्टार है सोनी है बहुत सारी चैनल है बहुत सारे हिंदुस्तानी चैनल है जिसमें मल्टीनेशनल कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट <clears throat> करके रखा है और उनको एडवर्टाइजमेंट का पैसा देती है उनका होल्ड जो है पेड मीडिया पे Times of India Hindustan Times ये Indian Express Times Now channel सब पे कैसे है कि अभी जैसे कोका कोला है पेप्सी कोला है उसके सबका एडवर्टाइजमेंट मिला लो तो शायद टाइम्स ऑफ इंडिया क्या 50-60 परसेंट एडवर्टाइजमेंट इन कंपनियों से आता है वो कंपनियां यदि एडवर्टाइजमेंट 50 परसेंट क्या 20 परसेंट भी कम कर दे तो टाइम्स ऑफ इंडिया को ताला लग जाएगा इसलिए पेड मीडिया इनके द्वारा चलता है और पेड मीडिया को सऊदी अरेबिया से भी बहुत पैसा आता है फिर फोर्ड फाउंडेशन है और फिर वो कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी को कंट्रोल करते किस सेंस में कि कांग्रेस के जो ऊपर के लोग हैं बॉटर देखो ग्रास रूट किसी के कंट्रोल में नहीं है ग्रास रूट हर एक पार्टी का ईमानदार है आम आदमी का हो बीजेपी का हो कांग्रेस का हो ग्रास रूट ठीक है कांग्रेस का ग्रास रूट है छोटे मोटे <clears throat> किसी को राशन कार्ड निकलवा के सौ दो सौ रुपये कमा लिए वो सब चलता होगा पर वो बाय एंड लार्ज फॉरेनर्स के अंडर में नहीं है पर इसका जो एपेक्स है जैसे मनमोहन सिंह है सोनिया है वो सब सीधा इन मिशनरी मल्टीनेशनल कंपनी इनके द्वारा कंट्रोल में है यूं समझो कि सेवेंटी एटी परसेंट एपेक्स बिक चुका है बीजेपी का एपेक्स इतना बिका नहीं है पर फिर भी 30-40 परसेंट बिक चुका है आप बीजेपी के सारे मिनिस्टरों की स्टडी करो तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे मिनिस्टर है वो एमएनसी के एजेंट है कुछ कुछ एक मिनिस्टर है जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे वाजपेयी की गवर्नमेंट में आज उनके पास और उनके फैमिली मेंबर के पास तीन का तीन चार हजार करोड़ रुपए से ज्यादा वेल्थ हो गई और सब पसीने की कमाई है किसका पसीना वो आपको सोचना होगा उनका पसीने या पूरे देश का पसीना पर उनका मल्टीनेशनल कंपनियों से काफी अच्छा रिश्ता है आम आदमी पार्टी 100 परसेंट मल्टीनेशनल कंपनी अब कैसे ये ध्यान रखना है कि मल्टीनेशनल कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी आम आदमी पार्टी को एक रुपया नहीं देती फोर्ड फाउंडेशन आम आदमी पार्टी को एक रुपया नहीं देता वो गलती मत करना दोबारा कभी वो एक जमाना था जब दिया लेकिन उसको तो बरसों बीत गए वो पैसा तो कब का खर्च हो चुका अब कोई पैसा नहीं आ रहा अब आम आदमी पार्टी को मदद मिल रही है वो पेड मीडिया से मिल रही है कैसे सऊदी अरेबिया और मल्टीनेशनल कंपनी वो पेड मीडिया को पैसा देते हैं और पेड मीडिया उनको इतना कवरेज देता है इतना कवरेज देता है कि ये हीरो बन गए हीरो बन गए तो इनको दुनिया भर भारत के जो कंसर्न लोग हैं वो डोनेशन देते हैं वैसे तो ओवरऑल घाटा ही जाता है जब पेड मीडिया इसको 2000 करोड़ की पब्लिसिटी देती है तब कहीं जाके आम आदमी पार्टी को 20 करोड़ का डोनेशन मिलता है पर फिर भी आम आदमी पार्टी पूरे भारतीयों के डोनेशन पे चलती है फिर भारतीयों में एनआरआई भी हो सकते हैं लेकिन वो भारतीय ही हुए विदेशी नहीं हुए वो भले एनआरआई ने अमेरिका की सिटीजन ले लिए तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हुआ वो मतलब वो कोई विदे वो किसी सेंस में वो विदेशी का एजेंट नहीं हुआ तो ये पार्टी भारतीयों के पैसे पे चलती है पर जो मीडिया कवरेज मिल रहा है एक एक पूरा फ्रंट पेज जब मीडिया मान लो हिंदुस्तान टाइम्स ने आधे फ्रंट पेज का कवरेज दिया तो उसका उसको दस लाख रुपया देना पड़ता है तो इनके पास नहीं है दस लाख रुपया दे मतलब इस तरह से पैसा देना शुरू किया मीडिया को तो एक हफ्ते में इनका पूरा बजट खत्म हो जाएगा तो multinational company missionary Saudi Arabia paid media को पैसा देते हैं मीडिया इनको कवरेज देती है और इसके द्वारा ये हीरो बनते हैं और डोनेशन मिलता है कांग्रेस मीडिया <clears throat> को पैसा नहीं देती वो जमाना गया 1991 के बाद कांग्रेस पूरी की पूरी मल्टीनेशनल कंपनियों के अंडर में आ गई किस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन मैं ये एक एनालॉजी बहुत बार दी और मैं दोबारा दूंगा कि 1860 के बाद भारत के राजा क्या थे वो अंग्रेजों के गुलामी थे वो किस सेंस में राजा थे वो नाम के राजा थे हर एक राजा के दरबार में एक रेसिडेंट नाम का अफसर होता था अंग्रेज और वो तय करता था कि टैक्स का रेट क्या होगा वो तय करता था कि बजट क्या होगा वो तय करता था कि पुलिस की संख्या कितनी होगी सेना की संख्या कितनी होगी पुलिस को हथियार कौन से मिलेंगे सेना को हथियार कौन से मिलेंगे ट्रेनिंग किस टाइप की दी जाएगी वो सारा रेसिडेंट तय करता था यहां तक कि जो राजा के वरिष्ठ अधिकारी होते थे प्रधानमंत्री हो सेनापति हो पुलिस कमिश्नर हो वो भी रेसिडेंट टाइप डिसाइड करता था कि कौन बनेगा राजा सिर्फ नाम के होते थे तो इसी तरह से कांग्रेस की हैसियत ही नहीं है कि वो मीडिया को कंट्रोल कर सके आज कांग्रेस सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह पेड मीडिया को किसी बड़े पेड मीडिया मैन को फोन करेंगे तो वो उसका फोन भी नहीं उठाएंगे काट देंगे उसका फोन वो सीधा एमएनसी के एग्जीक्यूटिव से एमएनसी के एग्जीक्यूटिव उसको बोलता है कि तू कांग्रेस को कवरेज दे बीजेपी को इतना कवरेज दे आम आदमी पार्टी को इतना कवरेज दे और उसके हिसाब से पेड मीडिया चलते वो कांग्रेस के इशारों पर नहीं चलता तो कांग्रेस की हैसियत ही नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी को खड़ा कर सके न इतनी कैपेबिलिटी है न इतना इसमें डिसिप्लिन है, न इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, न ही इसके पास इतना पैसा है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दू कि 4 अप्रैल 2011 जब अन्ना का पहला अनशन हुआ था, तब तो अन्ना को देश में आधा परसेंट लोग भी नहीं जानते थे, शायद महाराष्ट्र में 5-6 परसेंट लोग जानते हो, लेकिन महाराष्ट्र के बाद तो उसको आधा क्या 0.01 परसेंट लोग भी नहीं जानते थे। और इन भाई को 4 अप्रैल की बात कर रहा हूं, 4 अप्रैल 2011 की बात कर रहा हूं, आज से तीन साल पहले, चार साल पहले। तब कितने लोग जानते थे पूरे कंट्री में शायद आधे परसेंट एक किरण बेदी को थोड़े बहुत लोग जानते थे पर वो भी इतने नहीं कि वहां पे पूरा मीडिया पहुंच गया कितना मीडिया पहुंचा था मेरा एक दोस्त है जो वहां गया था उस दिन तो उसने मुझे बताया था कि मुश्किल से सौ दो सौ वॉलेंटियर थे जंतर मंतर पे तो रोज अनशन होते रहते कभी तो कभी कभी तो दो दो तीन तीन लोग साथ साथ अनशन करते एक किसी एक मुद्दे पे किसी दूसरे मुद्दे पे जंतर मंतर पे अनशन कोई नई बात नहीं है तो मुश्किल से 500 वॉलेंटियर थे और 150 मीडिया वाले पहुंच गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए और बड़े-बड़े चैनलों से बड़े-बड़े अखबारों से और 25 ओबी वैन थी जो डायरेक्ट टेलीकास्ट करना हो आउटसाइड ब्रॉडकास्ट वैन पता नहीं को आउटसाइड ब्रॉडकास्ट वैन ऐसा कुछ फुल होता है एक ओबी वैन का खर्चा आता है बीस लाख से लेके एक करोड़ तक और उसका दिन का किराया दिन का किराया होता है मिनिमम पंद्रह हजार रुपया प्लस चैनल का पैसा अलग यानी हाई टीआरपी वाली चैनल है तो वो ज्यादा पैसा लेगी पर ओबी वैन एक दिन के लिए खड़ी करनी है किसी जगह तो उसके लिए पेड मीडिया है वो दिन के दस पंद्रह हजार लेती है फिर यदि वो फेमस अच्छे टीआरपी वाली पेड चैनल हुई तो वो उसका अलग से पचास हजार एक लाख प्रीमियम हुए छोटी मोटी चीला चालू चैनल हुई तो वो पांच दस हजार प्रीमियम लेगा एक मीडिया मैन आठ घंटे की रिपोर्टिंग यदि उसको करनी हो किसी कॉन्फ्रेंस की तो वो दो तीन हजार रुपया लेता है प्लस यदि वो किसी बड़ी चैनल से एसोसिएटेड हुआ तो उसका 10-15 हजार अलग तो इतना सारा पैसा तो उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन के पास था नहीं अन्ना के पास भी नहीं था अरविंद भाई के पास नहीं तो ये वो पैसा कांग्रेस ने नहीं दिया था वो ध्यान रखिए वो पैसा सीधा एमएनसी से आया था मतलब कुछ कुछ कंपनियां जो सीधी एमएनसी की है उन्होंने बोला था कि भाई इसकी 24 घंटा दिन की 48 घंटा कवरेज करनी है इन लोगों को हीरो बनाना है वगैरह वगैरह तो लोग आप पे हंसे या ना हंसे पर गलती से भी ये बात आप हमेशा कहो कि भाई आम आदमी पार्टी कांग्रेस की एजेंट नहीं है वो सीधी अमेरिकन इलीटमेंट की एजेंट है किस सेंस में कि उनको पैसा नहीं मिलता अमेरिका के इलीट और फोर्ड फाउंडेशन इनको एक रुपया नहीं पहचाते हैं इनको सिर्फ मीडिया का कवरेज मिलता है और वो मीडिया कवरेज का पैसा ये सारी संस्थाएं देते हैं सऊदी अरेबिया मल्टीनेशनल कंपनियां मिशनरी फोर्ड फाउंडेशन वगैरह और वो आम आदमी पार्टी का एजेंडा कैसे डिसाइड करते हैं जैसे कहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी बहुत ईमानदार है भाई ईमानदार है तो बांग्लादेशियों को क्यों नहीं निकाल रही क्योंकि तो ये सब पैसा दे रहे हैं इसलिए ये सब पैसा सीधा नहीं दे रहे लेकिन ये मीडिया को दे रहे मीडिया कवरेज दे रहे इनको मीडिया का कवरेज चाहिए इसलिए कुछ कुछ मीडिया चैनल वाले बोलते हैं कि भाई बांग्लादेशों के खिलाफ बोलोगे तो यहाँ से पैसा आना बंद हो जाएगा तो हम आपकी कवरेज बंद कर देंगे इसलिए बांग्लादेशों को सपोर्ट कर रहे हैं वेल्टेक्स का क्यों विरोध कर रहे हैं वेल्टेक्स का विरोध इसलिए कर रहे हैं फिर इसमें कुछ भारतीय इलीट भी है ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी इंडियन इलीट है इंडियन इलीट दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है इसलिए मैंने इसको इसमें नहीं रखा जो इंडियन इलीट है वो क्यों कमजोर होती जा रही है बताऊंगा मैं तो उसमें से जैसे जिंदाल साहब है तो वो दिल्ली का काफी सारा मीडिया कवरेज देते हैं तो अब उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है एक एक परसेंट वेल टैक्स आया तो उनको घाटा हो जाएगा इसलिए वेल टैक्स का ही विरोध कर रहे हैं right to recall Delhi corporator का क्यों विरोध किया राइट टू रिकॉल अब तो असेंबली उनके पास है तो असेंबली में कानून ला सकते थे right to recall Delhi corporator का right to recall Delhi mayor का लेकिन वो एक भी कानून नहीं लाए वो सिर्फ वो ये ऊटपटांग हरकतें करते रहते हैं 600 लीटर पानी में फ्री में दिया बिजली की 50 परसेंट सब्सिडी दी अभी शीला दीक्षित के सामने इंक्वायरी निकालने वाले हैं शायद रॉबर्ट वद्रा के सामने भी इंक्वायरी निकाल दे तो इंक्वायरी से मिलेगा क्या और इंक्वायरी में नार्को टेस्ट नहीं रखेंगे जो असली चीज है कि ये कोई बेवकूफ लोग थोड़े हैं कि कागजी सबूत रखेंगे तुम पूरे घर पे छापा मारो उनके गोडाउन में छापा मारो जो पूरी दुनिया के कागज इकट्ठे कर रहे हो तो वो क्या इतने बेवकूफ लोग हैं कि कितना पैसा कहां से लिया वो कागज पे रखेंगे उस पर अंगूठा का निशान रखेंगे और सिग्नेचर करेंगे और अपना ठप्पा लगाएंगे जब तक इनका नार्को टेस्ट नहीं होता ये भ्रष्ट मंत्रियों का तब तक कोई सबूत हाथ में नहीं आने वाला तो अरविंद भाई ने सीधा नार्को टेस्ट का विरोध किया ए राजा जो टेल, टेलीकॉम का भ्रष्ट मिनिस्टर था उसके नार्को टेस्ट का क्यों विरोध किया क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि भ्रष्ट मंत्रियों पे नार्को टेस्ट हो मतलब आप देखो कि इस पार्टी का पूरा एजेंडा जो है ये चवन्नी अट्ठन्नी के पानी और बिजली के मुद्दे को छोड़ के पूरी ये लोग डिसाइड करते हैं और वर्ड टू वर्ड आप मैच देखते हो कि जन लोकपाल का कानून आया क्यों क्योंकि यूएनसीएसई यूएन यानी मल्टीनेशनल कंपनियां चाहती थी अमेरिका के इलीट चाहते थे इसलिए उन्होंने यूएनसीएसई पास कराया United Nation convention against corruption उसके आर्टिकल सिक्स में लिखा है कि हर एक देश है वो अपने देश में 10-15 लोगों का इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएगा जो कि करप्शन के केस में इन्वेस्टिगेशन कर सके प्रोसिक्यूशन कर सके ये यूएनसीएसी में लिखा है यानी लोकपाल तो लाना ही था इंडिपेंडेंट लोकपाल वर्ड यूएनसीएसी में नहीं लिखा लेकिन इंडिपेंडेंट कमीशन रखा इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि मिनिस्टर उसकी अपॉइंटमेंट कर सकता है लेकिन मिनिस्टर उसकी ट्रांसफर नहीं कर सकता उसको सस्पेंड नहीं कर सकता उसको नौकरी से नहीं निकाल सकता उसके पावर कम नहीं कर सकता उसको अलग से बजट देना पड़ेगा उसको अलग से स्टाफ देना पड़ेगा फिर उसको किसी के सामने इंक्वायरी करनी होगी तो मिनिस्टर की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी उसको किसी के सामने प्रोसिक्यूट करना होगा केस करना होगा कोर्ट में तो मिनिस्टर की तो मिनिस्टर की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी यानी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनानी है वो यूएनसीएससी में लिखा है यानी लोकपाल का कानून तो लाना ही था क्योंकि इंडिया ने एम एन यूएनसीएससी पे साइन किया कुछ 2006 में और फिर रेटिफिकेशन किया 2011 में मई 2011 में रेटिफाई किया लेकिन कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया था जनवरी 2011 में तो राइट टू रिकॉल जन लोकपाल क्यों नहीं रखा उनका जो जन लोकपाल का ड्राफ्ट है उसमें राइट टू रिकॉल जन लोकपाल नहीं रखा इसी तरह से दिल्ली में जो जन लोकायुक्त आ रहा है उसमें भी राइट टू रिकॉल जन लोकायुक्त का नहीं रखा क्यों क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि राइट टू रिकॉल जन लोकायुक्त यदि राइट टू रिकॉल जन लोक आयुक्त आया जो जन लोक आयुक्त है वो पॉपुलेशन के कंट्रोल में आएगा सोसाइटी के कंट्रोल में आ जाएगा वो नहीं चाहते ये अमेरिका के धनिक और मिशनरी सऊदी अरेबिया नहीं चाहते इसलिए उन्होंने राइट टू रिकॉल जन लोकपाल के क्लॉज सारे फोड़ दिए फाड़ के फेंक दिए तो आप देखो कि इनका जो एजेंडा है वो पूरा ऊपर से डिसाइड होके आता है और जो चिल्लर मुद्दे होते हैं मोहल्ला सभा मोहल्ला सभा के पास पावर क्या होगी साल में उसका 20 लाख का बजट होगा 20 लाख के बजट से क्या पुलिस चलाएंगे 20 लाख के बजट से अदालत चलाएंगे नहीं कहीं सड़क टूट गई है तो बनाएंगे कहीं स्ट्रीट लाइट बनाएंगे मतलब चिल्लर धंधे जो है उस पर वो फुल डेमोक्रेसी लाने की बात कर रहे हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उस पर वो इन लोगों की ओलीगार की मतलब ये लोग लोकपाल अपॉइंट करेंगे और ये लोकपाल पूरे देश पे शासन करेंगे मतलब रूल ऑफ ऑलीगार की बड़े मुद्दों पे रूल ऑफ ऑलीगार की और चिल्लर मुद्दों पे 100% डेमोक्रेसी और इसी तरह से आप जितने भी मुद्दे देख लो बांग्लादेशियों तो बांग्लादेशों का समर्थन करते हैं भारत को सेना को मजबूत करने के कोई कानून कौन कौन से कानूनों से भारत की सेना को मजबूत हो सके मैनिफेस्टो में नामो निशान नहीं है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का भ्रष्टाचार तो इनके पार्टी के एजेंडा में नहीं आता मतलब क्यों क्योंकि जो ये महारथी है सब elite man missionary Saudi Arabia ये नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का भ्रष्टाचार कम हो क्योंकि इनके द्वारा ही तो वो देश के ऊपर शासन कर रहे हैं तो यहां पे मैं आपको फिर से बताऊंगा कि आप हो सक यदि आपने ये स्टेटमेंट यूज किया कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की एजेंट है तो प्रॉब्लम कब होगी जब नाटक करने के लिए कुछ नहीं तो छह महीने का नाटक करने के लिए भी कल अरविंद भाई ने शीला दीक्षित को या कांग्रेस के दो चार मंत्रियों को या रॉबर्ट वद्रा को जेल में बंद कर दिया तो बेकार में प्रॉब्लम आ गई आप ऐसा स्टैंड लो कि जिससे देश को फायदा हो जैसे कि वे right to recall Delhi mayor right to recall Delhi chief minister right to recall Delhi Jal board chairman right to recall Delhi electricity regulator right to recall Delhi police commissioner pass नहीं कर सकती क्योंकि पुलिस का है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है दिल्ली अकेला स्टेट है पूरे इंडिया में जिसमें पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है इसलिए right to recall police commissioner की बात मैं नहीं करूंगा ऐसा कानून पास करने को कहो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो पार्टी आम आदमी पार्टी के एमएलए ये कानून नहीं पास करेंगे और उनकी पोल खुलेगी और चलो उन्होंने पास कर दिया तो मैं उनको एक लाख का डोनेशन दूंगा तो देश को फायदा हो गया देखो यदि ये कानून पास कर देते हैं right to recall chief minister right to recall Delhi chief minister right to recall Delhi में तो कुछ भी आदमी हो कैसे भी आदमी हो उन्होंने देश को फायदा पहुंचा दिया मैं उनको एक लाख का डोनेशन दे दूंगा पर वो नहीं करने वाले और इससे पोल खिलेगी लेकिन आपने यदि ये कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की एजेंट है तो महीने दो महीने में आपकी बदनामी होगी क्योंकि वो एक आध कांग्रेस मिनिस्टर को अब जेल में बंद करने वाले दिखावा करने के लिए अब मैंने बताया था कि इंडियन इलीट भी कंट्रोल करती है थोड़ा बहुत मीडिया को इंडियन इलीट भी पैसा देती है पर वो दिन ब दिन कमजोर क्यों होती जा रही है क्योंकि इंडियन इलीट की पूरी टेक्नोलॉजी एमएनसी से आती है जैसे शेवरॉन और दुपोन दो चार कंपनियां यदि वो रिलायंस को मशीनरी स्पेयर पार्ट भेजना बंद कर दे तो उनकी रिफाइनरी दो तीन महीने में पूरी बंद हो जाएगी जो जितनी भी इंडियन कंपनियां हैं टेलीफोन कंपनीज देख लो तो उसका जो टेक्नोलॉजिकल बैक सब पूरा बैकबोन है वो विदेशी का है ये टाटा स्काई है तो उसका डिब्बा है वो इंडिया में नहीं बनता वो स्काई बना के उसको भेजती है उसमें सिर्फ टाटा का लेबल लगा है और पास में स्काई का लेबल रखा है उसका पूरा जो सॉफ्टवेयर है कस्टमर सर्विस का फिर वो टेलीकास्ट का ब्रॉडकास्टिंग का सैटेलाइट इंडियन है पर जमीन पे जितना भी टाटा स्काई का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब स्काई कंपनी ने दिया है हर एक कंपनी का किसी न किसी के साथ टाइप है जो आ, फिर ये आ, गाड़ी बनाने की कंपनियां हैं तो जैसे मारुति है तो सुजुकी तो अब तो अच्छा खासा हिस्सा सुजुकी ने लिया टाटा 100 परसेंट इंडियन भले हो पर उसकी फैक्ट्री में चले जाओ तो उसकी जो असेंबली लाइन के रोबोट है वो सारे मेड इन जापान है या मेड इन जर्मनी या मेड इन अमेरिका है एक भी मेड इन इंडिया नहीं है एक भी रोबोट मेड इन इंडिया नहीं है तो इस तरह से और दूसरा इन्होंने डॉलर में बहुत सारा कर्जा लिया है आप गूगल करो इंडियन कंपनी डॉलर डेट तो आपको पता चलेगा कि भारतीय कंपनियों ने इतना सारा डॉलर में कर्जा ले लिया और इनका एक्सपोर्ट तो बढ़ नहीं रहा और इसलिए डॉलर के कर्जे की वजह से एक ना एक दिन इनको अपने अधिकतर शेयर एमएनसी को बेच देने पड़ेंगे तो इंडियन इलीट का थोड़ा बहुत कंट्रोल है कांग्रेस बीजेपी पे और दिन ब दिन कम होता जा रहा है बीजेपी सबसे ज्यादा इंडियन इलीट का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा बीजेपी में है आम आदमी पे प्रैक्टिकली जीरो है कांग्रेस पे कम होता होता अब सिर्फ दस परसेंट ही बचा कांग्रेस मतलब नाइन्टी परसेंट एमएनसी के अंडर में दस परसेंट इंडियन इलीट बीजेपी है वो चालीस परसेंट एमएनसी साठ percent Indian elite Aam Aadmi Party 100 percent MNC Indian elite का खास कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर दो चार है कुछ जिंदाल वगैरह पर वो पांच परसेंट से कम हो गए सब तो इस तरह से आप ये आप बात कहने की कोशिश करोगे तो हो सकता है लोग आप पे हंसे क्योंकि एकदम उनको कुछ नई बात ऐसी बात बता रहे हैं जो कि उन्होंने पहले कभी सोची नहीं और कहा शायद मीडिया ने कभी उनको बताया भी नहीं मीडिया ने कभी बताया ही नहीं कि भाई पूरा का पूरा मीडिया एमएनसी के 90 परसेंट मीडिया एमएनसी के हाथों बिक चुका है मीडिया ने कभी बताया नहीं कि भाई आम आदमी पार्टी ने को 4 अप्रैल 2000 को कवरेज देने का पैसा सारा एमएनसी मिशनरी ने दिया था सऊदी अरेबिया ने दे दो तो आप ये सारी बात बताओगे तो हो सकता है लोग पहली बार आपको हंसे पर आपने यदि उल्टी बात बताने की कोशिश की तो वो नुकसान जाएगा धन्यवाद